समादनीय विद्वदगण तथा ब्रह्मचारीगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं अपने जीवन को कृत्य बनाने के लिए कल के सत्संग में कुछ बातें आपको बतलाई गई थी उन सब को आप ध्यान में रखिए लंबे काल तक विशिष्ट विद्वान योगाभ्यासी सत्पुरुषों के सानिध्य में रहने का प्रयास करते चले जाइए यदि आप लंबे काल तक पुरुषों के विद्वान योगाभ्यासियों के संपर्क में संबंध में यदि नहीं रहते तो आप अपने लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच जाएंगे यह बात कठिन है आवृत्ति के लिए क्या कहा मैं कौन सुनाएगा आप बोलिए सत्पुरुषों योगाभ्यासियों विद्वानों के सत्संग में यदि हम नहीं रहेंगे तो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे यह बात कठिन है सीधा ईश्वर से जोड़ देता है और ईश्वर से सीधा संबंध होने के कारण वह व्यक्ति अपने स्तर को ठीक रखता हुआ न भटकता हुआ अपने मार्ग से और ईश्वर की सहायता से वो सतत ईश्वर के सत्संग से अपनी स्थिति बनाया रखता है अज्ञान के आक्रमणों से बचता है अधर्म के आक्रमणों से बचता है कुसंस्कारों के आक्रमण से बचता है उसको भी अच्छे विद्वानों की अपेक्षा रहती है अच्छे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता रहती है अच्छे ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा रहती है और मान के चलते हैं हम कल्पना करते हैं अच्छे ग्रंथ उसको पढ़ने को मिल गए और सतपुरुष उसको इस रूप में विशेष नहीं भी मिले तो ये अपनी स्थिति को उन ग्रंथों के आधार पर ईश्वर की सहायता से बनाए रखता समाधि को प्राप्त करना उसको दृढ़ बनाना उस पर चलते रहना विचलित न होना यह स्थिति बनाए रखना दूसरा जो व्यक्ति है इससे दूसरे स्तर का वह ईश्वर से इस प्रकार का सीधा संबंध नहीं बना पाता उसकी क्षमता इतनी नहीं उसको ऐसे गुरु आचार्य चाहिए जो ईश्वर को जानते हैं ईश्वर का साक्षात्कार किया है योग विद्या में निपुण है सिखाने में समर्थ है ये दूसरे स्तर का व्यक्ति यदि ये इतने स्तर का व्यक्ति ऐसे गुरु के सानिध्य में रहता है तो वह ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच जाता है अन्यथा इस जन्म में वह ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंचता क्या समझ में आया दोहराइए दूसरे स्तर का व्यक्ति हो उसकी क्या स्थिति है वो ईश्वर से सीधा संबंध बनाकर नहीं रखता है और वो मतलब रख नहीं सकता, नहीं सकता और जो ईश्वर साक्षात्कार किए हुए गुरु हैं उनके सानिध्य में आदेश में रह के वो शिक्षण वहां से प्राप्त नहीं करता तो इस जन्म में वह ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता उसका स्तर इतना है अपनी स्थिति बनाने में प्रयास करते करते पर्याप्त उन्नति वो कर सकता परंतु ईश्वर साक्षात्कार करने में जो बाधाएं उलझने उपस्थित होती हैं और जो अपेक्षित साधन होते हैं उन बाधाओं को वो नहीं समझ पाता नहीं पकड़ पाता उपायों को वो ठीक प्रकार से नहीं जानता नहीं पकड़ पाता उसको बहुत सी बाधाएं साधन दिखाई हैं क्या होता है ईश्वर प्राप्ति में बहुत सी बाधाएं उसको जो बाधाएं उसको साधन दिखाई देते जो साधन है वो बाधाएं दिखाई देती उन बाधाओं को बाधा समझना साधन न समझना साधनों को साधन समझना बाधाएं न समझना या फिर ईश्वर के सानिध्य से एक भाग है या फिर ऐसे गुरु के सानिध्य से वो इन दो तो इन बातों का दोनों का समाधान करता है अपनी क्षमता इतनी नहीं है उसकी एक और स्थिति है यदि व्यक्ति वेद वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में में विद्या है उसको पढ़ता पढ़ाता है आचरण करने का प्रयास करता है तो इसकी स्थिति ऐसी स्थिति में यदि श्रद्धापूर्वक वो पढ़ता है पढ़ाता है प्रयास करता है तो वैदिक मार्ग से विचलित नहीं होता क्या समझ में आया दोहराओ रेखा शक्ति उनके ऊपर चलने का प्रयास करता है ऋषियों पर वेदों पर विश्वास रखता है तो ये अपने वैदिक मार्ग से विचलित नहीं होता यदि वेद और वेदानुकूल ऋषि ग्रंथों को नहीं पढ़ता नहीं पढ़ाता उन पर यदि विश्वास न रखे तो निश्चित रूप में भटक जाता है जिस व्यक्ति को मोक्ष मार्ग को बताने वाले पर उन जिनमें मोक्ष के साधन मुक्ति का वर्णन किया वो ग्रंथ पढ़ने को नहीं मिलते ऐसे गुरु भी नहीं मिलते और उस व्यक्ति के सामने ईश्वर का स्वरूप शुद्ध भी नहीं आया किसी भी प्रकार से अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति भटकता है और ध्यान ये जितने भी करोड़ों लोग आपको दिखाई देते हैं संप्रदाय के रूप में ये सभी के सभी मोक्ष मार्ग की दृष्टि से भटके हुए हैं मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी चाहिए थी अब ये कहते हैं चाहते हैं कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं जो कुछ हो रहा है ये सब के सब भटके हुए मोक्ष मार्ग पर चल के ये ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते किसी संप्रदाय को ले लो आप जितने भी आपको दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं क्या समझ में आया दोहराओ इनको न तो ऐसे गुरु मिले एक बाधा बहुत बड़ी खड़ी हुई है इन संप्रदायों को ईश्वर को जानने वाले साक्षात्कार करने वाले गुरु नहीं मिले इसलिए भटके हुए संप्रदाय वाले लोगों को वेद और वेदानुकूल ऋषि कृत पढ़ने पढ़ाने को नहीं मिले इसलिए गए अब उच्च बुद्धि वाले की बात ले लो आप ये हजारों हैं या लाखों भी हैं छोटे मोटे वैज्ञानिक बहुत बुद्धिमान बड़े परिश्रम हैं वाले हैं त्यागी तपस्या सब कुछ होते हुए भी इनको ऐसे गुरु नहीं मिले वेद वेदानुकूल वेदानुकृति पढ़ने पढ़ाने का इनका कार्य नहीं रहा याद रखना ये भी बटके हुए भौतिक वैज्ञानिक उनको छोड़ दो जो वैदिक परंपरा को मान के चलते बढ़ते हुए निश्चित अर्थात फिर से सुनिए जो मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं मानते नहीं जानते तदनुरूप साधनों को नहीं प्रयोग में जाते बाधकों को नहीं हटाते वो भटके हुए लोग कभी आपके मन में आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ सकता है उनमें जाएंगे उनमें रहेंगे आप कल्पना कीजिए यदि आपका स्तर तो इतना ऊंचा नहीं है तो आप भी निश्चित रूपे ने बच गए माता जी समझ गई ना है बट गया अच्छे पढ़े लिखे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे प्रवक्ता और लेखक आपने देखा है या देख सकते हैं इतिहास के रूप में वो कितने भटक उनके नाम आप जानते भी होंगे नाम ले तो कोई बाधा नहीं बटके न तो व्यक्ति को समाधि प्राप्त हुई न ईश्वर साक्षात्कार हुआ याद रखें और न ऋषि ग्रंथ पढ़े पढ़ाए वो विद्या भी नहीं है उसके पास उस रूप में पूरा सिद्धांत नहीं है ना वो कोई भी क्यों न हो वो निश्चित रूपे न भटक जाएगा हम एक भजन सुनाया करते याद है या नहीं माता जी सुनोगी दिन आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे क्या कहा हूं बोलो तो राधो से आप तो धर्म सुना रहे ना <laughs> अच्छा याद रखना अच्छी परिपक्व अवस्था में आए कभी गाने में फंस गए तो गाना बहुत अच्छा है और वो विद्या सीखनी चाहिए ये नहीं परंतु जब वैरागी की स्थिति उभरती है ना <laughs> तो गाना बजाना जो है वो बाधक के रूप में भी खड़ा होता है एक स्थिति ऐसी उसमें रुचि उत्पन्न होती है और रुचि जो है संसार की ओर खींच ले जाती है अब जैसे कि खीर हृदय का जो सुख है ना खीर हृदय का सुख ईश्वर के आदर से विमुख करके खींच के ले जाता माता जी पूछू आपसे कुछ ये बताया है खीर हलवे में लौकी की चीजों में जो आनंद लेता रहेगा उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी परंतु खाने का निषेध नहीं है अच्छे से अच्छा भोजन खाओ और व्यायाम करो शरीर को स्वस्थ भगवान बनाओ ये दनजी भाई ने भवन बना के खड़ा किया आए थे ना जब उस समय पंद्रह वर्ष की ट्रेन गई और भाई ब्रह्मचारियों को घी दूध मिलेगा दो वर्ष के लगभग था ना अर्जुन भाई ने कहा भाई जितना खाए पिए उतना खिलाओ अच्छा जो लोग असंतुलित दिमाग के होते हैं वो कहते ब्रह्मचारी को इतना दूध क्यों पिलाते हो इतना घी क्यों खिलाते हो एक एक चम्मच दिया करो या दो चम्मच से अधिक मत देना एक व्यक्ति सहयोगी थे सहयोग करते थे इसमें कहने लगे इनको इतना इतना दूध क्यों पिलाते और घी इतना नहीं खिला दो चम्मच की दी जाने पूछे दो चम्मच के लिए ठीक है तो हमने कहा आप नहीं जानते ब्रह्मचारियों को विद्वान कैसे बनाया जाता है विद्वानों को कैसे रखा जाता है और घी दूध कितना खिलाना चाहिए आप नहीं जानते हम जानते आपको पता ही नहीं याद रखना हमको घी दूध तो कितने लंबे काल तक नहीं मिला तो नहीं मिला कल्पना कर एक बार की घटना सुनाता हूं गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते ये जो है ना जितनी उपाधियां हैं ना बहुत सी व्याकरणाचार्य दर्शनाचार्य निरुक्ताचार्य वेदवाचस्पति क्या नाम था उसका ये उपाधियां प्राप्त की गुरुकुल में उसके पश्चात लगभग ढाई वर्ष तक मैं गुरुकुल में पढ़ाता रहा अपने जिन जिन विषयों को मैं पढ़ाने में समर्थ था उस समय वेद की परीक्षा दी जैसे तो गुरुकुल की ओर से हम दो जने से परीक्षा देने वाले तो एक एक क्रमस्तर घी का मिल गया <laughs> क्यों नहीं क्या समझे पारितोषिक के रूप में एक एक क्रमस्तर घी का मिल गया और गुरुकुल में जब मैं पढ़ाने लगा था तब वो ढाई वर्ष तक ये जो उसकी व्यवस्था चली थी पीछे के काल की बात है जब मेरी अवस्था होगी लगभग चौतीस वर्ष की तब ये व्यवस्था हुई थी उसमें जो एक कनस्तर घी मिला था और व्यायाम अच्छा करते थे घी दूध की व्यवस्था हुई दो ढाई वर्ष से ठीक है ना अब वो एक कनस्त्र जो तो घी मिला तो मैंने सोचा कि व्यायाम अधिक से अधिक करके देखें आगे कितना बढ़ा सकते हैं तो घी है पास में तो व्यायाम बढ़ाया और ये देखा कि एक दिन में कितना घी खा सकते प्रतिदिन तो लगभग उस समय का वो एक पाव के लगभग होता था क्या समझ में आया प्रतिदिन दोनों समय जैसे होता एक पाव के लगे ऐसे प्रयोग करके देखा ऐसे व्यायाम करके उसमें व्यायाम जैसे कि लगभग चौदह सौ के आसपास और दौड़ भी जैसे होती है और परस्पर व्यायाम के लिए हम कुश्ती भी करते हैं ब्रह्मचारी अखाड़े ठीक है कुश्ती करते विप्रजमान कोई मिलता देखे कोई भी जो उससे पूछते या देखते कि भाई ये दाव कैसे लगाते और ये याद रखना उस समय से पहले दस वर्ष पहले जो स्थिति थी उस समय न मैं कबड्डी खेलता था न कुश्ती करता था कुछ भी नहीं और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो बड़ा डर लगता था इस बात से कुश्ती करने में दूसरे को गिराओ अपने को बचाओ तो राग और द्वेष और मैं तगड़ा ये कम ये प्रवृत्तियां पैदा ये योग वाला डालती है समझ मानिया इसलिए कुश्ती करने से कबड्डी खेलने से ऐसी स्थिति जो मैं दूर रहता अपना व्यायाम कर उसमें बाधा पड़ती जैसे हमें किसी को दाल लगा के गिराएंगे तो क्या उभरेगा कि तगड़ा और दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना भी हो सकती है ना तो गिराऊंगा लिए मुझे क्यों गिराएगा यहां राग द्वेष है मैं बलवान ये कमजोर नहीं आई बात ये बाधाएं खड़ी होती समझ में आ रही है तो उसे बचते बचते बचते आगे बढ़ते गए और लंबे काल के पश्चात अभ्यास होता गया तो गतिविधि आती गई कि इस अभिमान से कैसे बचे और ये दूसरे को गिराने में अपने को उठाने की स्थिति से कैसे बचे दूसरे को कमजोर और उसको दाव लगाने किसी और कई बार क्या होता है कि वो राग देश से कुश्ती करता व्यक्ति तो ऐसे दाव लगाता है कितना हाथ पैर टूट जाए वो दाव लगाए क्या समझे आप वही दाव लगाएगा कि मैं भले ही चोट लग जाए नीचे गिराना मुख्य है बचाना नहीं बात समझ में आ रही नहीं आ रही ऐसे दाव होते ही जिसे हाथ पैर खत्म हो जाए समाप्त हो जाए वो गिराना मुख्य उसका बचाना नहीं मैंने प्रयोग किए बचाना मुख्य है किसी को गिराना मुख्य नहीं आगे चल गए बहुत वर्षों के पीछे की बात है क्या समझ में आ रहा धीरे धीरे का अभ्यास करते और वो गिराना मुख्य नहीं इसलिए मेरे साथ जो सारी कुश्ती करते थे वो क्या सोचते थे ये चोट नहीं लगने देते क्या समझ में आया ये चोट नहीं लगने देते क्या समझ में आया बोलो नहीं आ रहा समझ में सही बोल गिराते समय जो दाव पेश करते हैं उस समय जो राग द्वेष से मैं बलवान ये कमजोर ये दिखाने के लिए मतलब जो चाहेगा वो दाव लगाएगा हाथ पैर टूटे फूटे कुछ भी हो सिर भूल जाए और ये जो व्यक्ति है यम नियम का पालन करने वाला वो उसकी प्रवृत्ति यदि है तो चाहे स्वयं गिर जाए भले दूसरे को चोट से बचाएगा ये प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न देख सकते हैं आप कभी देख सकते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते ऐसी स्थिति में मैं आ गया कि कुश्ती करते रहे या कबड्डी भी खेलते रहे तो वो प्रवृत्तियां नहीं उभर सकती यदि उभरती हैं सूक्ष्म मतलब तो हटा दिया तो मैं आपको सुना रहा था हमने जब व्यायाम किया ऊंचे स्तर पर और घी दूध के प्रयोग किए तो ये क्या जाने दो तो चम्मच बताने वाला ये क्या जाने दो चम्मच खाया था घी कौन खाता है <laughs> इसको पता तो है नीचे का जी बातें करने वाला मैंने कहा जितना ब्रह्मचारी खाएंगे कहा इतना खाएंगे आपके दो चम्मचों को अपने पास रखो आप सहायता तो दो तो, तो मत दूर हो जाओ हम नहीं मानते बात और याद रखना ये दो चम्मच देते और जिसके दिमाग से विद्यालय चलाते थे एक भी ब्रह्मचारी रहना मुश्किल था ना क्या समझ मारा इन ब्रह्मचारियों को बुद्धि नहीं पढ़े लिखे आचार्य पद पर जो कोई एमए है कोई फलाना है कोई ये है और जीवन को झोंक दिया है उनको अपने आप को विद्वान बनाना चाहते हैं योगी बनाना चाहते हैं उनको इन में दो चम्मचों में और थोड़ी से आजकल की वो कप बोलते इतना कि दूध पिला करके कटी में दबान के घुमाते रहे और सूखी रोटी दे दो कौन रखेगा ही कोई है क्यों माता जी रखेगा कोई रहेगा कोई जो एक मास में दस पंद्रह हजार रुपये दे सकता है ठाक से रह सकता है उसको आप यहाँ सूखी रोटी खिला करके कटी बात <laughs> मान के घुमाना चाहते हो क्या इनको रखना तो नहीं ये कहेंगे विद्वान बनाओ सन्यासी बनाओ ब्रह्मचारी बनाओ ना की व्यवस्था ना दूध की न घी की न गुरु की न प्यार है उनके साथ में सहानुभूति भी नहीं है कैसे युवकों को बना दोगे आप विद्वान नहीं बना सकते इसलिए मैं कहता हूं आर्य समाज के सत्संगों में और दूसरी जगह एक दयानंदी विद्वान बना देना कोई साधारण प्रसाद की बात नहीं है एक दयानंदी बना के खड़ा कर देना योगी हो विद्वान हो और सर्वस्व जिसका देश के लिए इतना बड़ा कार्य एक बना के तो दिखाओ कोई तो ये आप भी याद रखना आप जब इस स्तर पर नहीं चलेंगे अपने को योग्य नहीं बनाएंगे समझ रखना और जो मैं बतला रहा ना युवकों को युवा अवस्था वाले को कैसे पढ़ाया जाए उनको कैसे प्यार से रखा जाए शायद मुझे याद है एक बार अपने आचार्य जानी सिंह जी सुना रहे थे ऐसी बात थी वो ये कहते थे कि मैं मानता था अब तक कि माता पिता के तुल्य कोई हमारा उपकार नहीं कर सकता कोई प्यार नहीं कर सकता ये कहने की बात नहीं परंतु ये मत मानना मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हमने युवकों के साथ कैसा प्यार किया इनकी कितने दोषों को सहा है इनकी कितनी उल्टी बातों को सहते सहते छोड़ा नहीं उनका मेरी वो भ्रांति दूर हो गई आ गया था अब ये जो आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे ना इस रूप में तो युवकों को पढ़ा करके आप दयानंदी नहीं बना सकते अपने साथ जोड़ के संगठित होकर नहीं चल सकेंगे आप इतनी क्षमता चाहिए मेरे जो प्रयोग में आपको कहा वो योग के क्षेत्र में चले बिना प्रयोग होना कठिन रहता है यद्यपि जिन जिन आचार्यों के पास विद्या भी है बुद्धि भी है और वो ब्रह्मचारी को रखने की क्षमता नहीं रखते प्यार नहीं है मोह और ब्रह्मचारी के साथ मिलकर रहना नहीं आता समझ में आया इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मचारी में दोष नहीं है मैं उस पक्ष को लेकर बोल रहा हूं यह अर्थ नहीं लेना जो ब्रह्मचारियों का निर्माण करते हैं उनको पढ़ाना उनके साथ प्रेम वो जो बातें हैं सहानुभूति जैसे माता पिता अच्छे माता पिता की बात है वो अपने पुत्र पुत्रियों के लिए सर्वस्व की आहुति देते देते नहीं देते ऐसे ही आचार्य ने सर्वस्व की आहुति देने की बात में आएगा तब उन युवकों को बना सकता इससे पूर्व अपना निर्माण जो नहीं कर पाया वो आचार्य चाहे सर्वस्व की आहुति दे भी क्यों नहीं दे वो भी नहीं बना पाएगा चाहता है वो पाल के साथ उनको जुटा दिए उसे अपनी क्षमता योग्यता विद्या की योगाभ्यास की नहीं है वो भी नहीं बना सकता अब ये बात समझ में समन रखना अपने आप को इतना योग्य बनाओ आचार्य के सानिध्य में रह रह करके अच्छे योगी बन जाओ विद्वान बन एक बात उसके पश्चात ये जो निर्माण है आ, आने वाले समय में युवकों का निर्माण वो आप सबसे बड़ा कार्य हो आपको प्रचार की अवस्था मिल गई निकल गई मान मिलने लग गया धन मिलने गया बस प्रचार में है ठीक है खाते पीते कोई चिंता नहीं युवकों के निर्माण की और युवकों के निर्माण में चाहिए योग्यता बहुत योग्यता चाहिए कर्मी कथनी में एकता नियम नियमों का पालन व्यवहार और स्वयं दुख उठा उठा करके भी युवकों के दोषों को सहते हुए भी कितने लोग कहते हैं अजुतो जी नींद तो नहीं आ रही अजुतो जी के उसे बहुत चलते रहते हैं मैं सुना कहता ना आशुतोष जी मेरे साथ रहे यहां प्रचार के पांच वर्ष के लगभग लगाएंगे और ये अस्वस्थ रहते थे लगभग और दर्शनों को भी पढ़ते थे और सेवाएं भी करते थे और औषधि देना वस्त्र धोना और पत्र लिखना और योग्यता बड़ी देकर उपदेश भी देते थे इतने कार्य अकेले करते आप ये गौतम जी धर्मवीर जी रहते ना दोनों इतना नहीं कर सकते नहीं कर सकते और ये क्या करते थे पहले पहले इनको उपदेश देते और कहते ऋषियों ने देखा है और ये आप तक तो कहते मैं ऋषि की बात नहीं मानता तो मेरे समझ में नहीं आती अब बता क्या करोगे मैं आपकी बात भी नहीं मानता ऋषि की नहीं मानता हमारी समझ में नहीं आती कोई बात नहीं भाई आ जाएगी जो अब हमसे रहे थे इसकी बात कई बार कुछ का कुछ कह देते उसको भी सह देते यदि हम इसको नहीं सहते थे तो उसमें कहते चलो यहां से भागो अरे चले जाते जो अब योग्यता अपनी बन जाती क्या ये तो केवल एक बात है कितने सैकड़ों और कितने फिर सामान्य स्तर पर हजारों युवक से संपर्क होता रहता है और उसमें कौन कौन शेष करता है हम देखते हैं उनके लिए प्रयास करते हैं उसमें कितने इसके आगे बढ़ते हैं कितने मध्यम स्तर पर रहते हैं और जब हमें स्वयं को बनाते हैं और फिर उनको युवकों को बनाने के लिए उचित प्रयास करते हैं बहुत सहन शक्ति होती है तब युवकों को आप बना सकते हैं और ये जो युवकों का निर्माण है ये सबसे बड़ा कार्य रीड किया गया वैदिक विद्वान युगाधासी यम नियमों का पालन करने वाला निष्काम कर्म करने वाला एक व्यक्ति जो उपकार करता है वो सैकड़ों हजारों लोग नहीं कर सकते अच्छा ये बताओ आप यहां बनकर के ये कोई है आप में से विद्यालय को ऐसे ही चलाई सदा तक जीवित तरह का नहीं कोई व्यक्ति रुगण हो वृद्ध अवस्था आ जाए तो विद्यालय कैसे चलेगा आप में से कोई इस विद्यालय को चलाने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा ये बताओ अब देखो एक भी नहीं निकलिए क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ प्रयास करते युवकों को बनाने के लिए तो भावना ही नहीं है और मैं अपना विचार सुनाता था सुना था ना और की बात पूरे संसार को यहां बनाकर रखना अपने काम छोड़ देना अपनी पढ़ाई का समय भी छोड़ देना और युवकों को बनाना आपने इंद्रवेश जी देखे होंगे आपने आचार्य बलदेव जी देखे होंगे स्वामी धर्मानंद जी दो गुरुकुल चलाते हैं कितना कार्य बड़ा कार्य किया दो गुरुकुल उड़ीसा में बीस बीस हजार जो ईसाई बनाए उनको हिंदू बना लेते देखे वो पाल्य अवस्था में मैं उनको पढ़ाता भी था उनको वहीं तैयार किया जाता टीचर स्वामी इंद्रवेद जी और जागरण कार्य करते थे सात कक्षा पढ़े थे विद्यालय में मैं विद्यालय विभाग में था यह उस दिन निर्माण में थे इनसे संपर्क जुड़ा मैंने कितना मिला उपहार देते देते देते देते इनको शिष्य का मन प्रमुख कार्य करता इतने लंबे बाद अचरे बलदेव जी विद्युत विभाग में काम करते थे गुरुकुल में आते थे ये हम तीनों जने सोचते थे ना गोष्ठी बना बना के तो वहां आके पढ़ो देश को बताना है इनको प्रेरणानंद जी स्वामी धर्मानंद जी आचार्य वेदवंत जी भी उन्हीं में से हैं ये जो आए थे उन्हीं में से ये जब भटकने की स्थिति में आए ना कभी उज्जैन पढ़ते थे मेरे पास रहे लंबे काल तक याद रखना उस सत्संग की बात अजमेर में अच्छी स्थिति बन गई योग के विषय में सीखते रहे फिर कहने लगे ये सोचने लगे मैं उज्जैन जाता हूं ज्योतिष पढ़ने के लिए अब मुझे स्वामी जी की इतनी मेरे संबंध में सोचा इनकी आवश्यकता इतनी मैं चल सकता हूं कुछ मासों को पत्र आने लगे याद रखना मेरी स्थिति विचलित हो रही है मैं जानता हुआ भी नहीं बच पा रहा हूं और आप नहीं बोलते थे तब भी मैं आपके पास रहते इतने उसमें रहता था ये इतना बड़ा वर्ग दिख रहा ना आपको उस पीढ़ी का ये पीढ़ी विवेक दी वाली तो अगली पीढ़ी हो वैसे है जैन जी की विवेक दी की वो इतना अपना कार्य करते करते ही युवकों को कैसे प्रेरणा देते रहे कैसे बचाते रहे तब ये स्थिति आई ये विद्यालय चलाना यदि आपकी ऐसी विचारधारा नहीं है तो आप इस स्तर पर नहीं जा सकते अब इतने में से एक भी तैयार नहीं कर पाएंगे क्या ऐसा अच्छा है आपको तो पढ़ा दे कोई और खूब पढ़ा लिखा के और आप किसी को भी नहीं पढ़ाए वो विद्यालय टूट जाए क्या अच्छा अच्छा है आप बताओ बुरा है तो हाथ खड़ा करो बुरा है तो हाथ खड़ा करो और अच्छा है तो उसकी लिए प्रतिज्ञा करो कितनी कमजोरी है ऐसे नहीं होते एक आदमी आप योगी भी नहीं बन सकते और को बना भी नहीं सकते समझ रखना फिर से सुन लीजिए इस रूप में जो विद्यालय चलाना देश जाति के लिए अपने आप को समर्पित करना निष्काम कर्म के माध्यम से करना योगाभ्यास करना ये कृत्यता का आधार है संतुलन तो रखना पड़ता है अर्थात समाज के काम इतने करना आगे दौड़ धूप करना और ईश्वर प्राप्ति को छोड़ देना ये अनुचित है समझिए समाज के कार्य करना युग को बनाना और अपना जो संतुलन है विद्या पढ़ना योगाभ्यास करना उसको युगत कहा ये संतुलन है ये परंपरा आपने देखी होगी संप्रदाय वाले की एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछा हाँ, पूरा का पूरा लाखों लोगों का झुंड हुआ पूरे आंख बंद करके लगा देते हैं कि हाँ गुरु जी के जो काम बताए गुरु जी ने वही करेंगे उसके पीछे वो उसके पीछे वो लाखों लोग अब उनकी परंपरा में कितनी जनसंख्या है राधा स्वामी की देखो उस ब्रह्मा कुमारी की देखो उस और देखो ईसाइयों की देखो इस्लाम की देखो और पौराणिकों की देखो अब यहां पर तो दो चार छह आठ दस ये भी चिड़िया की तरह उड़ रहे हैं आया पढ़ा रहे हो गया आया पढ़ा रहे गया फिर पीछे कुछ नहीं ना संगठन और ना कोई निर्माण तो समझ रखिए अपने को तैयार और इस विचार को लेकर मैं अपने को ऐसा बनाऊं इस साक्षात्कार तक पहुंचू और दूसरे को भी यहीं पहुंचाऊं तब तो आप युगों का निर्माण कर सकते हो अन्यथा नहीं कर सकते घर का आकर्षण है जिस व्यक्ति को परिवार का आकर्षण है वो कुछ नहीं कर सकता इस क्षेत्र में वो घर ही चला जाना चाहिए उसका भाई घर में कच्चे बच्चे पैदा करके किए और जलाए आपको पता है अंत स्थिति का राष्ट्र की देश की स्थिति बड़ी भयंकर अवस्था आ चुकी है आप जिस समय कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा या कुछ भी नहीं कर सकेंगे चल चिल्लाते रहिए कि देश को बचाओ जाति को बचाओ भारत की स्वतंत्रता को बचाओ नहीं बचा सकते आप आज अपनी स्थिति कुछ हाथ में है परंतु किसी दृष्टि से देखो राजनीति की दृष्टि से देखो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चरित्र की दृष्टि से देखो ये जो आज संचालन करते हैं अपने देश का जो इनके चरित्र की दृष्टि से देखो आप ये देख सकते हैं आज ही भारत जा सकता है ऐसी भयंकर अवस्था आज की न तो ऐसे विद्वान युग तैयार किए जा रहे न क्षत्रिय तैयार किए जा रहे कि ये महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर इन जैसे वही तैयार हो रहे हैं जिससे कि आक्रमणकारियों की शक्ति को रोक सके अब आप वापस अपनी सोचते होंगे अपने घर की सोचते होंगे भाई ऐसा हो जाएगा हमें क्या करना है पर याद रखना ये जो संपत्ति कमाएंगे घर जाके सुरक्षित रखेंगे फिर बेटे पैदा करेंगे उनको खिलाओ पिलाओगे ऐसा नहीं कर पाएंगे यदि ऐसा ही दिमाग भारत का रहता है वैसा नहीं हो पाएगा यदि देश की रक्षा संपत्ति की रक्षा और आगे चल के अपनी कुल की परंपरा को ठीक रखना है और संपत्ति पर अधिकार रखना और वैदिक परंपरा पर चलना और औरों को सफल बनाना है तो इस प्रकार का पूरा का पूरा जीवन लगाना पड़ेगा झोंकना पड़ेगा और इसमें हानि नहीं है याद रखना याद रखिए क्यों ऐसा जीवन समर्पित नहीं करता इस रूप में वो इसमें हानि समझता है क्या समझे आप वो इसमें हानि समझता है इसे समर्पित नहीं करता और बात क्या है कुछ भी नहीं यदि वो लाभ समझने लग जाए तो तैयार हो जाए समझने की बात क्या तो इस रूप में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं उचित योगाभ्यास करते हैं विद्या तो पढ़ाते हैं ईश्वर परिधान में रहते हैं क्या उनसे बढ़ के कोई सुखी है संसार में आप बोलिए है कोई सुखी दुखों से बचा है कोई अरे मुख्य बात से व्यक्ति आप पीछे भाग रहे डर रहे इतना घबरा रहे ये बताओ क्या है <laughs> इसलिए आप उसमें आ जाओ सावधान हो जाओ और ये विधियों को जान लो इनका प्रयोग करके देखो अपना समाज और राष्ट्र था आगे क्रिमिण तो विश्व मारियम वो बात सामने आ सकती क्यों नहीं आई अब विराम आपसे कल एक बात पूछी थी कि आप क्या यहां पढ़ करके इस विद्यालय के कार्य को संभालेंगे और इसी प्रकार से प्रत्येक ब्रह्मचारी पढ़ के अपनी अच्छी योग्यता बना करके इसी प्रकार के और विद्यालय चलाएंगे तो आपका दोनों बातों में क्या निर्णय था क्या आपने ये योजना नहीं बनाई आप स्वयं अच्छे योग्य विद्वान योगाभ्यासी बन के और इसी प्रकार के विद्यालय चलाएंगे जिसने ये योजना बनाई हो वो बताएंगे कौन कौन आपका अच्छा चलो तो विद्यालय यदि नहीं चलाएंगे तो और क्या करना है आप क्या वो रहता है कि क्या करना तो अच्छा अच्छा कौन कौन से कार्य आपके सामने आते हैं जिनका निर्णय नहीं हुआ दो तीन विषय आते हैं तो पढ़ने पढ़ाने का हाँ। दूसरा प्रचार करने का दो ये दो ही करेंगे या कोई व्यवसाय करेंगे अच्छा दो आते हैं आपके सामने प्रचार करने का और विद्यालय चलाने और आपके दो और निर्णय है जी हाँ। आपका पढ़ने पढ़ाने का है अच्छा। और आपका क्या है पढ़ने पढ़ाने की समय आपका पढ़ने पढ़ाने आपका मुख्य लक्ष्य तो पहले ईश्वर प्राप्ति का अच्छा फिर क्या करना है इसके बाद विद्यालय चलाना या प्रचार करना ये दो तो आपका दोनों विकल्प विकल्प आपका ज्ञान साधना और प्रचार अच्छा दो और जी विश्वेश जी अभी कुछ समझ में नहीं ले बारह साल अच्छा मतलब प्रचार करेंगे या विद्यालय चलाएंगे या व्यवसाय करेंगे हाँ ये आपका क्या है ऊंचा बोला तो फिर बस और नहीं तो नहीं है ऐसा ऐसा सोचते हो आया तो पढ़ा दिया नहीं गई ऐसा सोचते हो क्या हाँ जी गौतम जी आपका निर्णय योग्य बन करके ऐसे गुरुकुलों को खोल रहा है और जी आशुतोष जी आपका को संपादित करना मुख्य उद्देश्य बनाया है हाँ। और इसके साथ साथ विद्या का पठन पाठन भी करना है हाँ। और जी धर्मवीर जी सबसे कि गुरुकुल या आश्रम में रह करके हाँ जी सुनते हुए किसी गुरुकुल या आश्रम में रहते हुए उससे साथ जुड़ते अच्छा वहां पर पठन पाठन का और प्रचार का कार्य अच्छा और ये आप दोनों क्या करेंगे आपका प्रचार प्रचार कर तो एक तो ये बात ध्यान देने की है जैसे आप प्रचार का कार्य करेंगे जिस समय आप प्रचार का कार्य करेंगे उसमें दो स्थिति रहती है प्रचार का कार्य स्वतंत्र करना अकेला जैसे लिखा इच्छा जैसे एक किसी के अनुशासन में रहकर के करना कौन सा अच्छा लगता आप आप बोलेंगे संगठन में रहकर करना आपका अनुशासन में रहकर आपका कैसा है किसी के अनुशासन में आपका अनुशासन संगठन में रहते आपका अनुशासन संगठन में स्वतंत्र स्वतंत्र हाँ जी आप आपका आसन हो स्वतंत्र रूप से कार्य करना उसमें अपने जो बड़े लोग हैं हाँ। उनसे बड़ा विचार विमर्श करते रहना सम्मति लेते रहना और भी गौतम जी संगठन में रहकर अच्छा आपका अच्छा ये बतलाएं आप संगठन में रह करके अधिक अपना दूसरों का भला होता है या स्वतंत्र अकेला रहकर आपका पक्ष पहला जैसे रखें अकेला स्वतंत्र रहने से अधिक अपना दूसरों का उपकार होता है वो हाथ खड़ा करो और जो संगठित रह करके जो अपना दूसरों का भला कर होता है वो बताओ तो आनंद जी का पक्ष तो अकेला रहने वाला है या क्या स्वतंत्र बात बड़े गुरुजनों का आदेश पूरा मानना है हाँ तो फिर उसके लिए तो आगे ना अनुशासन की बात जैसे आशुतोष जी ने निवेदन किया लगभग यही मेरा विचार हाँ कि रहना स्वतंत्र है लेकिन निवेदन से करते रहना है आ, हाँ, उसको बोलते हैं वो भी अच्छा एक भाग है वो वो है जो महापुरुष है हाँ उच्च कोटि के व्यक्ति हैं उनकी सम्मति लेना ये सम्मति लेना अलग बात है और अनुशासन में रहना अलग बात है दोनों को समझ गया सम्मति न लेना तो बहुत खराब है क्या समझे आप सम्मति न लेना तो बहुत खराब है और सम्मति लेना उससे अच्छा है और अनुशासन में रहना उससे अच्छा है ये जो आप देखते हैं ईसाइयों का प्रचार चलता है फिर ब्रह्मा कुमारी का चलता है और भी देखते हैं ना उनमें एक बहुत बड़ी बात यह होती है वो अनुशासन में रहते एक कारण ये है उनके अंदर एक माता जी रहती है दिल्ली में एक रहती है आबू पर्वत पर वो प्रकाश ऐसा नाम है प्रकाश वती है प्रकाश मणि प्रकाश मणि जब हम गए तो फिर वो दादी माँ बोलते हैं उसको तो हमने कहा कि दादी माँ से हम जब मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा प्रयास करेंगे हम तो वह उनको बुलाया उनसे फिर मिले मिलाए आदि और एक सुना है कि उससे भी ऊंचे स्तर की हो सकती है वो दिल्ली में रहती है और वो आदेश देती है आदेश नहीं कि बोलने का ढंग ईश्वर की ओर से मुझे प्रेरणा आई है ईश्वर ने मुझे यह आदेश दिया है मेरा कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सोचती जो ईश्वर देता बताता उसी को बता देते मेरा सोचना देना है ही कुछ नहीं अब वो जो कहती है यहां पर इतने करोड़ का भवन बनेगा बस ननु नहीं है उसको वही बना डाले तो अपनी इस परंपरा में जो अनुशासन में रहने की जो स्थिति है वो बहुत निर्बल है बहुत कमजोर है बोलते तो हैं तो स्वामी जी भगवान का आदेश मान के लोग मान तो लेते हैं कि भगवान का आदेश आया हाँ आर्य समाज में तो भगवान का आदेश भी नहीं मानते उन दोनों प्रकार से ना तो अपना माना वह मानते ना भगवान का आदेश मानते विशुद्ध जो भगवान का आदेश है वो भी नहीं मानते अपने यहां तो अधिकतर और अपना जो वो आया ना अच्छी बात भाई तो करना चाहिए समझ में आ गई उसको भी वो नहीं मानते तो आप ये अपनी योग्यता और रुचि के ऊपर हो सकता है कि आप प्रचार में रुचि रखते हैं तो प्रचार में रुचि रखते हैं तो प्रचार की योग्यता बहुत अधिक होगी बहुत ऊंची स्थिति आए नहीं तो गौण रूप से प्रचार कर देना लग चाहिए बीच बीच में गए फिर कुछ कर दिया कुछ कर दिया करते रहे करते रहे प्रचार कार्य में सम्मान भी मिलेगा धन भी मिलेगा वहां का चकाचौ भी बड़ा भारी है आजकल आप वहां योगाभ्यास करते हुए प्रचार में रह सकते हैं कितनी ऊंची स्थिति चाहिए आपको ये ध्यान दो आप कुछ समझ में आया नहीं आया है हाँ जी बोलो आप आया समझ प्रचार में रहते हुए आप अपनी स्थिति को ठीक रखें मन वचन कर्म आपका यम के नियम के अनुसार रहे आपका वैराग्य ज्यों का तो बना रहे समाधि ज्यों की तो बनी रहे प्रचार करते हुए तब प्रचार करना ठीक नहीं तो आप क्या से क्या हो सकता है उल, उल्टे लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते आपका जीवन ही सांसारिक बन जाए एक युवक उनका नाम ले ले तो पचास वर्ष तक आदमी ब्रह्मचारी रहने की बात करते रहे और अपने ढंग से अपने ढंग से अनुशासन में नहीं रहते कुछ पढ़े पढ़ाए धीरे धीरे पचास या बावन वर्ष की और समझो आप यदि ना तो उन्होंने योग्यता बनाई इतनी न किसी गुरु जिन के आदेश में रहे वो दोनों ही बातें नहीं परिणाम ये निकला आगे और दुर्घटना घट गई जैसे विवाह हुआ तो विवाह का संबंध जो है एक पागल दिमाग की लड़की से जुड़ गया वो उस व्यक्ति का दिमाग की <laughs> फिर बालक पैदा हो गए और वो सुनाते थे हमसे कहते स्वामी जी ये बड़ा भारी संकट उत्पन्न हो गया क्या ये लड़की थी दो थी या कितनी उस समय का मुझे पता नहीं और वो पालन पोषण भी वही करे और दिमाग खराब करने वाली कोई खराब वाली कोई काम ही नहीं करे एक और झंझट कराया हो अज्ञान किया और समझो जो उनकी संपत्ति थी भाई का भाई के साथ मुकदमा चलो यार पिछले दिनों भी जहां तक मुझे याद है वो मुकदमा कितने रुपए खर्च हो गए होंगे वो चल ही रहा है अब ये बदलाव ऐसा जीवन किस काम का कोई आधार होता है जिस आधार से वो खड़ा होकर के स्वयं को बनाता चलाता सफल होता फिर राष्ट्र को कुछ देन देता और ये तो यूं ही लाखों करोड़ लोग घूम रहे हैं राष्ट्र की हानि के अतिरिक्त तो इनका मुख्य कार्य कोई भी नहीं देखता उसी स्थिति में आप जाएंगे यदि योजना बट ये कार्य नहीं करेंगे इतनी सज्जा आपको करनी पड़ेगी प्रचार के लिए जैसे शिक्षा के रूप में जाना अभ्यास करना और फिर प्रमुख रूप जो प्रचार करना है उसमें आपको कितनी योग्यता चाहिए आप बताइए और उसमें भी दो स्थिति किसी गुरु के आदेशानुसार प्रचार करना ये अलग बात आप गलती करेंगे कोई दोष करेंगे खान पान अशुद्ध हो जाएगा कोई आतंक तो गुरु जी का ध्यान रहेगा और यदि गुरु जी को हटा दो फिर स्वतंत्र आप फिर क्या बात है चाहे जो योजना बना सकते हैं आप उल्टी भी समझ में आ गया ऐसे ही होगा एक आधार और उसके साथ काम करता रहता यदि उसके दिमाग में गुरु तो नहीं आया कोई कल्पना वो वेद और वेदानुकृत ऋषि ग्रंथों को ही अपने आधार मान के चलता है वही सब कुछ जो जो उन्होंने यदि वो ये ध्यान भी पूरा रखता है तो आचरण वैसा होता तो बच जाता है सुनाता हूं कई बार हम जिन आचार्यों से गुरुओं से पढ़ते थे वो कुछ ऋषियों से इधर उधर की बात मनमाना चाहते थे जैसे अथा अच्छा, उनका कहते थे कि ये ठीक है जैसे तो हम झट ऋषियों की बात हमारे दिमाग तो हमें पंडित जी या स्वामी जी ये जो आप बात करिए तो महर्षिदान के विरुद्ध है तो वो चुप रहेंगे वहीं पर रुक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे आर्य समाज में तो महर्षि नान की बात मान्य रहती है वहीं रुक जाएगा आगे बोलने की बात आएगी तो सोचेगा मुझे आगे यदि बोलना पड़ जाता है तो मेरा ये मान्यता आर्य समाज में फैलेगी है और फिर मेरा विरोध हो जाएगा इससे डर के रुक जाता है यानी अपने पंडित बुद्ध देव जी पहले पंडित बुद्ध देव थे और फिर स्वामी समर्पणानंद जी बने थे आचार्य वेदवत मीमांसक है और मैंने उन उनसे सतपथ ब्राह्मण का पहला कांड पौन के लगभग पड़ा हुआ प्रचार करते थे और बीच बीच में समय निकालते तब तो पढ़ाते पढ़ाते वो कहने लगे उनका भाव सुनाता हूं गृहस्थ आश्रम तो आनंदप्रद है आप या कोई भी उसमें अवश्य जाना चाहिए बहुत सुंदर ये जब प्रशंसा की इस रूप में तो हमने कहा स्वामी जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो है जी ये कहा है कि जैसे वैद्य को नहीं जैसे रोगी को औषधि की और वैद्य की आवश्यकता होती है ऐसा एक रेस्तासन क्या समझ में आया आया कुछ तो समझ नहीं आया रोगी को बीमार को औषधि की आवश्यकता होती है रोगी जो नहीं है उसको बेचने की ना औषधि की आवश्यकता नहीं होती ये था कहां लिखा है फिर कह हां भाई ये तो कोई करोड़ों में एक आध होता है अब एक दूसरे विद्वान पढ़ाते पढ़ाते ऐसी चर्चा आ गई जीवात्मा सर्व व्यापक क्या समझा कहा पंडित जी ये तो धर्म जाता है तो धर्म इसके साथ जाता है धर्म इसके अधर्म के साथ जाता है तो तर्क दिया कि जाना आना गौण है कोई जाता आता नहीं है जीवात्मा ईश्वर की प्राप्ति हो गई तर्क दिया प्राप्ति होना नहीं है ही वो अभिव्यक्ति हो गई है अब मेरी बात समझे नहीं या नहीं समझ में आ रही हेल बुद्धि है रबड़ बुद्धि है आप यहां लक्कड़ बुद्धि है कौन है तेल बुद्धि होंगे तो आ गया होगा समझ में लक्कड़ बुद्धि होंगे तो भी नहीं रबड़ बुद्धि वाले को तो आता ही बराबर पूछा जाता क्या समझ में आया उन्होंने क्या कर दिया जैसे ईश्वर से हर समय संबंध बना रहता है हम्म। लेकिन कैसे प्राप्त हो गया जैसे ईश्वर की प्राप्ति कैसे कही जाती है उसे जीवात्मा का जाना आना कहा जाता है वैसे अब फिर के सामने आता है कि ऋषि ने भी यही लिखा है जाना आना है तो वे वहीं रुक गए मतलब जब ऐसी बात आती है तो फिर उसको संकोच होता है वो मान्यता बनी रहती है तो अपमान के रूप में यदि गुरु जी कोई ऐसी बात कहता है तो प्रेम से कहो गुरु जी आचार्य जी ये बात तो ऋषि से टकराती एक और थे अपने विद्वान उनसे हम निरुक्त पढ़ते थे जजर में वृद्ध थे तो आय प्रकरण की बात थी दो तो जी सच्चा ये बात वो मानते थे अपना <laughs> मानते थे तो हमने कहा पंडित जी ये तो हम तो नहीं मानेंगे इसको तो महर्षि ने लिखा ये झूठा फलित ज्योति जो है तो उनका हृदय या दिमाग और थोड़ा सा ऐसे ढंग का था जो दो चार बार कुछ बातें कर दी जाए तो रोने लग जाते या तो या दुखी हो जाते थे जिन्होंने कहा नहीं ये तो ऋषि ने खंडन ये फली ज्योति हो ही नहीं सकता ऐसे कुछ बातचीत हुई तो वो बेचारे पता नहीं रोने लग गए थे या रोने को हो गए थे ये स्थिति आ गई तो समाज में रहना गुरुओं से विद्या पढ़ना याद रखना दो बातें उनसे गुणों को लेते रहना उनमें कोई दोष दिखाई देवे तो उसको छोड़ देना क्या करोगे और जो कोई दोष दिखाई दे तो अच्छा। इसमें संतुलन बिगड़ता है व्यक्ति का किसी दोष को देखते देखते देखते क्या होता है वो गुरु जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है अथवा अपने अनुकूल वो गुरु जी की बात लग रही है जो गुरु जी को अच्छी कहता तो कोई उल्टी भी तो सारी मान्य हो जाती है उसको और सारी बातों को मान के चलता गुरु जी प्याज खाते हैं लहसुन खाते हैं फलाना खाते हैं कल्पना कीजिए कोई बात और बड़ा देव बहुत अच्छा है उनका गुरु जी लहसुन खाते हैं तो खाना चाहिए बहुत अच्छी चीज है औषधि के लिए तो होता है वो वो बात ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आयुर्वेद के विद्वान थे अब तो जीवित ना रहे हम वो पढ़ाते थे अपने गुरु को जल रहे हो चार वर्ष कितने तो उनके पास एक बार पढ़ते थे भाई मिर्च खानी चाहिए ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए वो तो तरीके नहीं गुरु जी जो ये कहते हैं मिर्च खानी चाहिए ये खाना चाहिए और झट गुरु जी की बात मान करके वो वही पर बना दी तो ये बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि वो जो कुछ कहे वही लेते जाओ वही लेते जाओ वही लेते जाओ जो ये भी ठीक नहीं है परमाणु से देखते जाते हैं और उनमें जो त्रुटि दिखती है उसको छोड़ देते हैं कभी कभी क्या होता है गुरु जी के अंदर कुछ दोष देखे और घृणा मैं इससे नहीं नहीं पढ़ूंगा इसमें तो ये दोष है ये दोष एक युवावस्था में निकले एक व्यक्ति कई होंगे हो सकता है एक कदम नहीं याद ही और कहने का महर्षि राम ने जो लिखा वही करेंगे वही पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे ठीक है गए किसी गुरु के पास कहने की महर्षि जैसे गुण इसमें है ही नहीं नहीं पढ़ेगा इसे और कहीं गई वही घटना वो ज्यो का त्यों कोरा रह गया वो व्यक्ति इतने वर्षों में ये महर्षि जैसे तो आपने ये नहीं देखा तुझमें नचिकेता जैसे गुण है या नहीं ये तो नहीं देखना ये तो बंद कर दिया वह महर्षि को देख करके पढ़ना चाहती हैं <laughs> और ना उससे पढ़ते ना उससे पढ़ते ना ये क्या दिमाग हुआ कोई व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं हुआ न है ना होगा जिसमें दोष ना होते क्या समझ में आया नदी भाई यहां समझ में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ न है और ना होगा जिसमें दोष ईश्वर को छोड़ के तो क्या करना चाहिए उसके गुणों को लेते जाना चाहिए दोषों को छोड़ देना ये रहने का ढंग है पढ़ने का ढंग है ये जिसको नहीं आता वो सफल नहीं होता